और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं कि अपने रब पर ईमान लाओ और यकीनन वो अल्लाह तुमसे पुख्ता अहद ले चुका है अगर तुम मानने वाले हो